drop that super hits 93.5 red FM पर जाते रहो आप सुन रहे हैं स्पेशल शो दिवाली के अवसर पर हंसी के पटाखे और मेरे साथ है कम কম পাইছে চাগে और मैं आसो पीछे अपना আছো पाही और बर्तमान পাহি আৰু বৰ্তমান মোৰ লগত ষ্টুডিঅ'ত আছে মুৰাৰীজি মুৰাৰীজি পেহলেতো আপকো স্বাগতম ৰেড এফএম स्टूडियो पर और मेरे शो पर आदा नाइन थ्री फाइव पर बहुत बहुत धन्यवाद पाही जी दर्शकों नमस्कार थैंक यू सो मच और पहले तो आपके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए मेरे बारे में क्या बताऊँ मैं जब से होश संभाला तब से बस कॉमेडी कर रहा हूँ पहले घर में करता था आजकल अपने जो यार दोस्त बढ़ गए उनके लिए करता हूँ अच्छा और आपके परिवार के बारे में थोड़ा सा बताइए परिवार के बारे में क्या बताऊँ मैं शादीशुदा हूँ मेरे दो बच्चे हैं माँ पिताजी हैं बड़ा भाई है बस छोटा सा परिवार है प्यारा सा चलिए आपको और आपके परिवार को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और हमारे सारे श्रोताओं को भी तो आप हंसाने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे बिल्कुल जी कमर कस के आया हूँ तो बस आप तैयार रहिए लेकिन उससे पहले हम गाना वाना सुन लेते हैं जरूर जरूर ये काम पहले super hits ninety three point five जाते रहो जाते सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बज जाते रहो welcome back to red FM और आप सुन रहे हैं दिवाली स्पेशल शो हंसी के पटाखे और मेरे साथ स्टूडियो पर है मुरारी जी तो मुरारी जी शुरू हो जाइए आप कौन सा और क्या पहले सुनाएंगे हमें ठीक है मैं आपको सबसे पहले बताऊं धर्मेंद्र और सन्नी देवल का जब आपस में सन्नी देवल जब रिजल्ट सुन के आते हैं धर्मेंद्र उनसे पूछते हैं कि उसके कितने नंबर आए धर्मेंद्र इस तरह से पूछते हैं सन्नी बेटे कितने नंबर आए बेटे मुझे नंबर बताए पापा बस एक दुख है भैया से बीस कम आए भैया को कितने आए हैं बेटे पापा भैया को बीस आए हैं <laughs> वेल बढ़िया है जी मुरारी जी ऐसे और भी चुटकुले आपसे सुनेंगे जरूर लेकिन आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे मतलब स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में हाँ श्रोताओं से यही कहना चाहूँगा जब स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं तो उस समय ये फील नहीं करेंगे सामने बहुत सारे ऑडियंस बैठे हैं हम्म। ऐसा सोचिए मेरे दोस्त बैठे हैं और मैं दोस्तों को सुना रहा हूँ okay thank you so much तो हम और भी बातें करेंगे लेकिन पहले सुन लेते हैं दो गाने super hits five Red M बच जाते रहो सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर जाते रहो मैं सपना खोडे पाहिया आपने सुनिए से दीपावली स्पेशल शो हंसी के पटाखे और मोर लगा से मुरारी जी तो मुरारी जी आपके चुटकुले और भी सुनेंगे लेकिन पहले तो ये बताइए आपको ये शौक कहाँ से हुआ मतलब कब से आप आ, सोचने लगे कि आप लोगों को हंसा सकते हैं या फिर स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते हैं बस यूँ कहिए कि ये बीमारी बचपन से ही है एक तरह की जन्मजात बीमारी है ये कॉमेडी करने की अच्छा तो इलाज मतलब नहीं हुआ आपका नहीं अभी तक कोई इलाज मिला नहीं <laughs> चलिए आप दूसरा वाला सुना दीजिए देखिए हमारे यहाँ पर जब लड़की विदा होती है शादी होके तो माँ रोती है जी तो बिल्कुल तो उसी प्रकार से माँ रो रही थी बहुत जोर दहाड़े मार बेटी मुझे छोड़ के मत जाओ बेटी अरे मैं क्या करूँगी तो बेटी पास में आई और माँ को धीरज बंधाते हुए बोली अरे माँ तुम क्यों रो रही हो माँ तुम मत रो माँ रोएंगे तो वो जो मुझे ले जा रहे हैं जरूर है जरूर अब से तो हर लड़कियां यही बोलने वाली है anyway thank you again Murari ji और भी आपसे बातें करेंगे हम लोग super hits nine three point five Red F M पर जाते रहो जाते सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर जाते रहो आप सुन रहे हैं दिवाली स्पेशल शो जिसका नाम है हंसी के पटाखे और मैं हूँ आपके साथ भाई और मेरे साथ आपको पता ही होगा हमारे साथ है stand up comedian Murari Lal ji लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं आप 30 अक्टूबर दैट इज थर्टी अक्टूबर को कलर्स देखना ना भूलिए क्योंकि वहाँ पे होने वाला है जीमा अवार्ड जहाँ पर आपको मिलेंगे ढेर सारे एंटरटेनमेंट तो ट्यून करना मत भूलिए तीस अक्टूबर शाम सात बजे कलर्स पर किंगडम ऑफ ड्रीम से The Chevrolet Jima Award powered by Lava Music Phone official radio partner super hits 93.5 Red FM और साथ ही साथ ये मत भूलिए मेरे साथ है स्टूडियो पर मुरारी जी तो आपको हंसाएंगे बहुत लेकिन पहले दो गाने आपके लिए सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर जाते रहो जाते सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर जाते रहो अपनी खुनिया से दिवाली स्पेशल शो हंसी के पटाखे और मोर लगते से मुरारी जी तो मुरारी जी आपके परिवार में आप तो शादीशुदा है आपके बच्चे भी है तो आप क्या चाहते हैं आपके बच्चे भी स्टैंड अप कॉमेडियन बने या फिर आ, कोई और वो जी चाहता तो यही हूँ की मेरे बच्चे जो है इसी कलाकारी लाइन में ही आगे बढ़े चाहे वो कॉमेडियन हो चाहे वो गाने की कला हो या फिर और कोई अन्य कला हो जी और आपके वाइफ भी ये सब करते हैं या नहीं नहीं नहीं वो सिर्फ घर का काम खेती का काम और आप उन्हें सुनाते और आप हस, वो हंसते हैं राइट बस जरूर बस उनका काम हंसने का है जी बुरारी जी हम और भी बातें करेंगे और आपके चुटकुले सुनेंगे लेकिन पहले हम सुन लेते हैं और दो गाने लेकिन गाने से याद आया मैं आपको बता दूं आज रिलीज होने वाला है super hit top thirty CD in association with T Series और वो भी शाम सात बजे और उसी सीडी के तीस गाने आपको सुनने को मिलेंगे आज ही सात बजे से सो ट्यून करना मत भूलिए और सुनिएगा exclusive super hit top thirty CD only on Red F M and nine three point five ಎವ್ರೆ ಎಫ್ ಎಂ ಬಜಾತೆ ರಹೋ रेड पर जाते रहो welcome back to Diwali special show हंसी के पटाखे और मैं हूँ आपके साथ और आपको हंसाने का काम कर रहे हैं मुरारी जी जी मुरारी जी अब बताइए आप क्या सुनाएंगे आप अभी मैं आपको मियाँ बीवी के बारे में सुना रहा हूँ हम्म। आजकल आप तो जैसे मालूम है औरतों का काफी दबदबा है हम्म। तो मर्द लोग जो है दिन में अपनी औरतों को गाली गलोज नहीं कर सकते तो एक औरत ने सुबह उठते अपने पति को कम्प्लेन किया सुनते हो हम्म। अरे भगवान क्या है है अरे क्या क्या है रात को नींद में गाली दे रहे थे तुम मुझे अरे तुम्हारा बहम है अरे क्या बहम है मैंने अपने कानों से सुना है बहम क्या है अरे तुम्हारा बहम है मैं गाली नहीं दे रहा था अरे क्या बहम है नींद में गाली दे रहे थे तुम अरे तुम्हारा बहम है कि मैं नींद में था <laughs> सही है सही है तो रात में वो अपनी इच्छा पूरी करते हैं हाँ, वही और आप मैं ऐसा कुछ नहीं करता चुटकुले के जरिए हो जाता होगा इनडायरेक्टली कह देते हैं जो करना है जी जी चलिए इसी हंसी के साथ और दो गाने एंजॉय कर लेते हैं हम लोग super hits nine three point five Red F M पर जाते रहो जाते super hits five Red M पर जाते रहो मैं हूं आपके साथ पाही और आप सुन रहे हैं दिवाली स्पेशल शो हंसी के पटाखे और आपको हंसा रहे हैं हमारे stand up comedian Murari Lal ji ji Murari ji अब फिर से हम सुनेंगे लेकिन उससे पहले आप बताइए आप खाली टाइम में मतलब लेजर टाइम में क्या करते हैं चुटकुले के अलावा कोई और शौक है आप जो पूरा करना चाहते हैं या करते हैं जी जी मेरे शौक तो बहुत सारे पाल रखे हैं हम्म। बांसुरी बजाता हूँ उसके अलावा माउथ हार्गन बजाता हूँ कीबोर्ड मिल जाए तो वो बजाता हूँ बजाने के लिए कुछ मिलना चाहिए बस तो मतलब कभी हम रेड एफ पे आपको वो इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी मिल पाएंगे है कि नहीं जी जरूर जरूर तो आप आगे बढ़िए फिर से अच्छा मैं मियाँ बीवी के बारे में बात कर रहा था तो एक बार एक आदमी भागा भागा एक दफ्तर में गया और बोला इंस्पेक्टर साहब इंस्पेक्टर साहब मेरी रिपोर्ट लिखिए साहब मेरी रिपोर्ट लिखिए अरे क्या हुआ <laughs> साहब मेरी बीवी घूम गई साहब आप रिपोर्ट लिखिए अरे ये पोस्ट ऑफिस है पुलिस स्टेशन में जाओ <laughs> साहब क्या बताऊँ इतनी खुशी हो रही है समझ में नहीं आ रहा क्या पोस्ट ऑफिस क्या पुलिस स्टेशन बढ़िया बढ़िया चलिए मुझे एक बात तो यकीन है मुरारी जी आप जो चुटकुले सुना रहे हैं ना सब बीविया तो अपने मतलब पति देव को यही बोल देखो तुम भी यही करते होंगे ना तो। चलिए और भी बातें करते हैं मुरारी जी दो गानों के बाद super hits nine three point five Red F M आते रहो सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो welcome back to Diwali special show हसी के पटाखे और मैं हूँ आपके साथ पाही और मेरे साथ स्टूडियो में है मुरारी लाल जी तो मुरारी जी आपके चुटकुले तो हम सुन रहे हैं आप बहुत हंसा भी रहे हैं बहुत नेक काम करते हैं लेकिन हाँ। कहा यह जाता है किसी को रुलाना उससे बहुत बहुत बहुत तकलीफ वाली बात होती है किसी को हंसाना क्या आप ये मानते हैं जी बिल्कुल मानता हूँ जो खुद अपने गमों को अंदर छुपा के दूसरों को हंसाता है असल में जीवन तो वही है जी बिल्कुल सही कहा आपने चलिए इसी लाइन पे एक और सुना दीजिए तो इस लाइन पर मैं आपको भी सुना रहा हूँ एक बार ओमपुरी साहब और राजपाल यादव आपस में हम्म। बात कर रहे हैं तो ओमपुरी साहब राजपाल यादव से कहते हैं अरे राजपाल अरे बच्चों को उबाल कर पानी पिला दो अरे अरे मेरे जिगर चले अरे बच्चों को उबालूंगा तो बच्चे मर नहीं जाएंगे अरे मैं ऐसे नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ पहले पानी को उबालो फिर बच्चों को पिलाओ अरे इतना उबला हुआ पानी पियेंगे तो बच्चे जल के ऐसे मर जाएंगे अरे नालायक समझते नहीं हो मैं कह रहा हूँ पानी को उबालो फिर ठंडा करके बच्चों को पिलाओ अरे इतनी देर में तो बच्चे प्यासे ही मर जाएंगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए अब हंसते भी रहिए और साथ ही साथ super hit top thirty series के गाने भी सुन लीजिए वो है कैरेक्टर ढीला फ्रॉम द मूवी रेडी और उसके बाद है नक्कर वाले डिस्को यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट भी है आपके लिए आपको गेस करना है सॉन्ग नंबर थ्री टू और वन कौन सा हो सकता है हमारे super hit top thirty series के अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आपको मिल सकता है ये super hit top thirty CD in association with T Series फिलहाल एंजॉय कीजिए कैरेक्टर ढीला एंड नक्कर वाले disco super hits three point 101.5 Red FM बजाते रहो बजाते सुपर सुपरहिट्स 93.5 रेड एफएम पर जाते रहो welcome back to Diwali special show हंसी के पताके और मैं हूँ आपके साथ भाई और मेरे साथ है हाँ मुरारी जी मुरारी जी आपके चुटकुले सुन के तो ये भी लग रहा है आप मिमिक्री का भी शौक रखते हैं राइट ये कब से हुआ जी जी मिमिक्री का शौक जैसे मैं बचपन में ही टीवी देख के आता था हम्म। घर में आके माँ के पिताजी के सामने आकर वो एक्ट करता था तो वो बड़े खुश होते थे बड़े हंसते थे हम्म। तो मेरा उत्साह बढ़ता गया और धीरे धीरे अपने आप आता गया चलिए थोड़ा और हंसा दीजिए हमें जी जरूर एक बार दो दोस्त बात कर रहे हैं हम्म। एक बोलता है अरे यार तुम्हें पता है मेरे दादाजी जो है इतने तेज दौड़ते थे इतने तेज दौड़ते थे इतने तेज दौड़ते थे कि राजधानी ट्रेन को भी पीछे छोड़ देते थे ए यार ये तो कुछ भी नहीं तेरे दादाजी इतने दौड़ मेरे दादाजी है ना गोल गोल कमरे में दौड़ते थे वो और वो इतना तेज दौड़ते थे इतना तेज दौड़ते थे कि अपने पैंट की पीछे वाली पॉकेट खुद ही देख लेते थे <laughs> बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए फिलहाल वक्त हो गया है super hit top thirty CD के गाने सुनने का और वो है वन अभी मत चमक चलो ये मूवी कल रिलीज होने वाली है तो ऑब्वियसली सीडी पे तो ये गाना मंगता है बस सुन लीजिए ये गाना of super hits top thirty in association with T Series super hits five Red M बचाते रहो सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर जाते रहो नमस्कार दोस्तों रेड एफएम पर मैं हूँ मुरारी लाल और आप सुन रहे हैं हंसी के पटाखे और मैं हूँ आपके साथ आज भाई बुरारी जी शुरू कीजिए जी जरूर एक बार क्या हुआ एक बंदा चला जा रहा था साइकिल लेके और आप जानते हैं साइकिल लेके जाते हैं तो अनबैलेंस होने के कारण साइकिल कहीं भी टक्कर मार सकती है हम्म। ऐसे ही एक औरत के अंदर पूरी साइकिल जो है उसने दे मारी तो औरत ने कहा अरे अरे दिखाई नहीं देता घंटी नहीं मार सकते मैडम जी पूरी साइकिल तो मार दी घंटी अलग से मारू क्या बहुत खूब बहुत खूब आई नो आपके पेट में भी दर्द होने लग गया है मेरे भी पेट में दर्द होने लग गया है हंस हंस के यार गलत मत समझिए आप सुन लीजिए super hit top thirty series के अगला दो गाना और वो है फिर मोहब्बत from the movie Murder two और उसके बाद ही है पीलू from the movie once upon a time in Mumbai सुन जा कीजिए super hit top thirty series in association with T Series के ये दो गाने भी super hits nine three point five बचाते रहो super hit stand five Red FM पर जाते रहो आप सुन रहे हैं दिवाली स्पेशल शो हंसी के पटाखे और मैं हूँ आपके साथ भाई और मेरे साथ है मुरारी जी मुरारी जी आज तो दिवाली है और आप लोग तो सेलिब्रेट जरूर करते होंगे तो इस शुभ अवसर पर आप कुछ कहना चाहेंगे अपने प्रियजन को अपनी फैमिली को या फिर जो रेड एफ श्रोता है उनको कुछ कहना चाहेंगे जी हाँ सभी से यही कहूँगा कि जहाँ तक हो सके अपने जीवन में उजाला रखने के अलावा दूसरों के जीवन में भी रोशनी फैलती रहे इसका हमेशा प्रयास करना चाहिए अगर किसी के जीवन में उजाला नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसा प्रयास मत कीजिए कि दूसरे के जीवन में अंधेरा हो फिलहाल तो आप हर किसी के जीवन में उजाले ला रहे अपने चुटकुलों के साथ तो आप कंटिन्यू कीजिए हम और सुनना चाहेंगे आप जी जी एक बार मैं अपनी बीवी को एक पार्टी में लेके गया जी तो मेरी बीवी जो है गाँव की है पढ़ी लिखी उतनी है नहीं तो मैंने उसको समझाया देखो भाई यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं सब ऑफिसियर लोग हैं उनसे मिले कोई तुमको पूछे कि ये कौन है तो कह देना कि वो मेरे हस्बैंड है मैं उनकी वाइफ हूँ इसके अलावा तुम्हें कुछ और बोलना नहीं है जी तो वो भी बोले ठीक है जी जब आज इतना कह रहे हैं तो मैं नहीं बोलूँगी जब वहाँ पर गए तो बहुत सारे लोग मिलते ही हैं जब देखा कि गाँव की कोई और आई हुई है तो सब पहुंच गई पास में हेलो भाभी जी हाँ क्या है भाभी जी आप किसके साथ आई हैं अरे किसके साथ क्या आई हूँ वो उधर गरम गरम तित्र के जैसे दौड़ रहे हैं ना उनके साथ आई हूँ अच्छा अच्छा आप उनके साथ आई वो आपके क्या लगते हैं वो मेरे हैंडपम्प है मैं उनका पाइप हूँ चलिए हम यही विश करेंगे कि कोई ऐसे ना बोले चलिए आप एंजॉय कर लीजिए दबंग वाले स्टाइल में दबंग गाना और वो है super hit top thirty series के अगला गाना और इसे दबंग स्टाइल में मुरारी जी आपको हंसाते रहेंगे क्योंकि चल रहा है दिवाली स्पेशल शो हंसी के पटाखे और मैं हूँ आपके साथ पाही super hit three point five बजाते रहो जाते सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो मौज अपना खोई पाई जो चलिए से दिवाली स्पेशल शो हंसे के पटाखे और मोर लगत स्टूडियो दसे मुरारी लाल जी मुरारी जी आप गुवाहाटी के रहने वाले हैं जी नहीं मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ लेकिन गुवाहाटी में मुझे गुवाहाटी में नहीं आसाम में लगभग तीस साल हो गए तीस साल हो गए बढ़िया बढ़िया चलिए फिर से शुरू करते हैं हंसी का सिलसिला तो मेरी बीवी की सुंदरता की बड़ाई कर रहा था मेरी बीवी कुछ ज्यादा ही सुंदर है जब घर से निकलती है तो पूरी अपनी ड्रेस पहन के निकलती है अच्छा और घूंघट निकाल के निकलती है अच्छा तो वैसे वो एक बार मार्केट से जा रही थी हमारे पास में एक शहर है सरदार शहर हम्म। वहाँ से गुजर रही थी पूरा बदन ढका हुआ था सुंदर मटकती हुई जा रही थी पीछे से किसी ने आवाज दी हेलो बहन जी हेलो बहन जी सुनिए तो मेरी बीवी ने पीछे मुंह किया और बोला अरे क्या है नालायक क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हो अरे मैं चिल्ला नहीं रहा मैं कह रहा था आपके ब्लाउज है ना उसके पीछे में जो है ना अलकतरा लगा है जो सड़क पर डामर होता है ना अलकतरा काला काला वो लगा है हट नालायक वो अलकतरा नहीं है वहाँ से ब्लाउज फटा हुआ है इतनी काली थी आपकी बीवी को पता है आप ये बोलते होंगे मुझे पता है वहाँ तक आवाज जाएगी नहीं राइट <laughs> चलिए आप सुन लीजिए super hits top C CD का अगला गाना और वो है सत्य गली from the movie Tanu weds Manu super hits five Red M पर जाते रहो जाते सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो welcome back to Diwali special show हसे के पटाखे मोआ सपना खोइरे पाहे और मुलागत स्टूडियो तसे मुरारी लाल जी मुरारी जी आप तो मतलब माशाल्लाह स्टैंड अप कॉमेडियन है सब आपको पहचानते हैं आपका फेवरेट कौन है अगर हम पूछे या आप को सुनना पसंद करते हैं जी जी मिमिक्री में अगर देखा जाए तो सुदेश भोसले जो है मुझे बहुत बहुत बहुत ज्यादा पसंद है जी और कॉमेडी कॉमेडी में अगर वैसा देखा जाए तो कॉमेडी में जो अभी कुलदीप दुबे का नाम आपने सुना होगा हम्म, जी बहुत अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट हैं बहुत अच्छी कॉमेडी भी वो क्रिएट करते हैं जी जी वो मुझे काफी पसंद है पसंद है चलिए मुरारी जी फिर से हमें हंसाइए जी तो मैं विशेषकर अपनी बीवी को बीच में लाता हूँ क्योंकि दूसरी को बीवी के लाने से गड़बड़ हो सकती है गड़बड़ मार पड़ने की आशंका ज्यादा रहती है इसलिए बता दूं वैसे बीवी से सभी लोग परेशान हैं एक बार एक बस चली जा रही है बस पर जो लोग हैं आपको मालूम है गेट पर लटक कर लोग जाते हैं हम्म। तो गेट पर बहुत सारे लोग लटके हुए अंदर सीटें खाली पड़ी हुई है कंडक्टर बोलता है अरे भाई साहब अरे यार क्या गेट पर लटके हो अंदर सीट पड़ी है सीट पर जाके बैठ जाओ लेकिन भाई साहब कहाँ सुनने वाले वो गेट पर वैसे ही लटके जो भी चढ़ता है गेट पर लटक के खड़ा होता है अरे यार आपको बोल दिया ना अंदर सीट पड़ी हुई आप अंदर जाके बैठ जाओ लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ हम्म। बस सीट पर दो चार आदमी बैठे कंडक्टर को गुस्सा आया देखो जो आदमी यहाँ पर गेट पर लटका रहेगा ना उसकी बीवी मर जाएगी इतना सुनते जो सीट पर खड़े थे वो भी आगे गेट पर लटक गए <laughs> बढ़िया बढ़िया चलिए हम एंजॉय कर लेते हैं super hit top thirty CD के अगला गाना और वो है शीला की जवानी डेफिनेटली वो तो होंगे ही और साथ ही साथ है कतिया करो from the movie Rockstar super hit three point five Red F M पर जाते रहो जाते hits ninety three point five red F M বজাতে ৰহো মই আছো আপোনাক সৈতে পাহি আৰু আপুনি শুনি আছে দিৱালী স্পেচিয়েল শ্ব' হাচিকে পটাকে আৰু এইখিনি মই আপোনাক আকৌ এবাৰ মনত পেলাই দিওঁ যে ত্ৰিছ অক্টোবৰ তাৰিখে সন্ধিয়া সাত বজাত চাবলৈ নাপাহৰিব কালাৰ্ছত কিংডম অফ ড্ৰিমছৰ পৰা the Chevrolet GiMA award powered by Lava music phone official radio partner super hits 93.5 red FM और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बता दूं स्टूडियो पर मेरे साथ है मुरारी जी जो आपको हंसा रहे हैं क्योंकि वो है स्टैंड अप कॉमेडियन मेरे शो के तो उनसे हम फिर से सुनेंगे कुछ चुटकुले कुछ जोक्स लेकिन पहले सुन लेते हैं super hit top thirty CD के अगला गाना और वो है तुझे भुला दिया फ्रॉम द मूवी अनजाना अनजानी और उसके बाद ही है तुम जो आए from the movie once upon a time in Mumbai तो आप भी एसएमएस करते रहिए आपको कैस करना है song number three two and one well आप एसएमएस करते रहिए और विनर बन के आप लेकर जा सकते हैं यही सीरीज जो है super hit top thirty in association with T Series super hits nine three point five Red F M बजाते रहो सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर जाते रहो आप सुन रहे हैं दिवाली स्पेशल शो हंसी के पटाखे मैं हूँ आपके साथ भाई और मेरे साथ स्टूडियो पे है मुरारी जी मुरारी जी हमारे वक्त भी खत्म होते आ रहा है हमें तो यही आशा करते हैं कि आप फिर से आए बार बार रेड एफ पे आए बार बार हमें हंसाए जरूर बुलाएंगे लेकिन बस और कुछ ही वक्त बाकी है तो आप क्या सुनाना चाहेंगे चलिए मैं आपको इसी संबंधित एक बार सुनाता हूँ हम्म। एक बार एक मियाँ और बीवी बैंक में गए थे हम्म। तो बैंक में जैसे गए उतने में क्या डाकू आ गया डाकू ने पूरी बैंक लूट ली बैंक लूट के जाने लगे तो उन लोगों ने बोला यहाँ पर किसी ने देखा तो नहीं है ना किसी ने देखा है क्या मेरे को हम लोगों को किसी ने देखा है कोई कुछ नहीं बोला लेकिन एक पति बोला भाई साहब और तो किसी ने नहीं देखा अपनी बीवी की तरफ आंगुली करके बोलता है इसने देखा है ये बहुत देखती है इसको गोली मारिए मतलब हर किसी का मुसीबत बीवी होती है ऐसा क्यों मुरारी जी ऐसा नहीं है इस बातें सिर्फ हंसने हंसाने के लिए हैं लेकिन बीवी के बिना घर जिंदगी भी अधूरी होती है oh. तो सो स्वीट <laughs> so तो इसी के साथ सुपर हिट टॉप थे सीधी के अगला गाना और वो है चोरी किया रे the romantic number from the movie Dabangg super hits 93.5 Red FM बचाते रहो सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो welcome back to Diwali special show हंसी के पटाखे बहू आपके साथ भाई और मेरे साथ है stand up comedian Murari Lal ji Murari ji वक्त भी यहीं पे खत्म होने को आ गया है जी जी तो फिर जाते जाते आप ऐसा क्या सुनाना चाहेंगे जो हमारे रेड एफ एम लिसनर्स हमेशा हंसते रहे बस चलिए मैं आपको एक अंत में लीक से हटकर सुनाता हूँ जी एक बार गुरुजी पढ़ा रहे थे मास्टर जी पढ़ा पढ़ा रहे थे स्कूल में तो मास्टर जी के जो पढ़ाने का अंदाज था वो बच्चों गांव के बच्चे थे उनको पढ़ा रहे थे बच्चों को अंग्रेजी समझ में आ नहीं रहे A for apple B for boy समझ में नहीं आ रहा है तो मास्टर जी ने एक तरीका निकाला और पढ़ाना शुरू किया बच्चों ए फॉर आनंद की माँ तो बच्चे बोलते ए फॉर आनंद की माँ बी फॉर बबलू की माँ बी फॉर बबलू की माँ इस प्रकार कर करके उन्होंने एम तक पढ़ाया हम्म। एम फोर मंगलू की माँ बच्चे एम फोर मंगलू की माँ तक पढ़ गए उतने में छुट्टी हो गई दूसरे दिन बच्चे जैसे आए मास्टर जी ने बोर्ड पर डब्ल्यू लिखा और पूछा अच्छा बताओ बच्चों ये क्या है तो वहाँ तक तो पढ़ा ही नहीं था बच्चे कंफ्यूज एक बच्चा खड़ा हुआ बोला सर ये है तो मंगलू की माँ पर पैर ऊपर कर रखे है फैंटास्टिक फैंटास्टिक मुरारी जी और हम यही आशा करते हैं आप ऐसे ही हंसते भी रहिए और दूसरों को हंसाते रहिए क्योंकि आप ये बहुत ही नेक काम हैं क्योंकि किसी को हंसाना बहुत ही मुश्किल होता है और हम यही दुआ करते हैं आप ये काम करते जाइए और साथ ही साथ ये भी विश करते हैं और आशा करते हैं कि आप रेड एफ पे ज़रूर आइएगा फिर से एक बार ओके ज़रूर धन्यवाद दोस्तों दीपावली सभी को हार्दिक मुबारक हो आपको भी मुरारी जी चलिए इसी के साथ मैं भी आप लोगों से इजाजत लेती हूँ और जाते जाते आपके लिए है आखिर में सुपरहिट स्टॉप थर्टी का आखिरी गाना और वो है आस पास खुदा यानी कि सुपरहिट स्टॉप थर्टी सीधी के आखिरी गाना तो आप इंजॉय कीजिए अनजाना अनजानी से आस पास खुदा और मुझे दीजिए इजाजत जाते जाते आप सभी को एक बार फिर से a very very happy Diwali play safe obey traffic rules enjoy and superhits 93.5 Red FM बजाते रहो